विरह पदावली सूरदास जी यशोदा वचन श्री कृष्ण के प्रति गोपाल राय की अवलंबन रही है प्राण की अवलंबन रही है प्राण गोपाल राय की अवलंब बन रही है प्राण निठुर बचन कठोर कुल सहुत निठुर बचन कठोर कुल सहुत कहत मधुपुरी जान क्रूर नाम गति क्रूर क्रूर मती काहे गोकुल आयो निप बैर जान गए हरि कौले न पठायो जिह मुखतात कहत ब्रजपति सोम मोहि कहत है माई तेह मुख चलन सुनत जीवती हो विधि सो कहा बसाई कमल मथानी धरी है कोकर कमल मथानी धरी है को माखन अरिखई है बरसत मेघ बहुर ब्रज ऊपर बरसत मेघ बहुर ब्रज ऊपर को गिर बर कर लई है बलि बलि इन चरण कमल की हौ बलि बलि इन चरण कमल की ध्याई रहो कन्हाई सूरदास अवलोक यशोदा सूरदास अवलोक यशोधा धरन परी मुरझाई चरण परी मुरझाई यशोजा जी कहती है मेरे राजा गोपाल मेरे प्राण तुम्हारे बिना किसके सहारे रहेंगे ब्रज की अपेक्षा भी निर्मम एवं कठोर मथुरा जाने की बात निष्ठुर बनकर क्यों कहते हो इसका तो नाम अक्रूर नहीं क्रूर है इसकी गति क्रूर कठोर है और बुद्धि भी क्रूर है यह किस लिए गोकुल आया अवश्य ही कुटिल राजा कंस ने हमसे बैर मानकर श्याम सुंदर को लेने के लिए ही इसे भेजा है जिस मुख से ब्रजराज नंदराय को श्याम सुंदर पिता और मुझे मैया कहते हैं इनके उसी मुख से मथुरा जाने की बात सुनकर भी मैं आज जीवित हूँ क्या किया जाए विधाता से क्या बस चल सकता है अब कौन अपने कमल समान हाथों से मथानी दही बिलोने का भाजन पकड़ेगा कौन हट करके मक्खन खाएगा और फिर जब मेघ ब्रज के ऊपर प्रलय वर्षा करने लगेंगे तब कौन गिरिराज गोवर्धन को हाथ पर उठाएगा कन्हैया मैं तुम्हारे इन चरण कमलों पर बार बार बलिहारी जाती हूँ तुम यहीं रहो सूरदास जी कहते हैं यह कहती हुई यशोदा जी मोहन को देखती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी मोहन इतव मोह चित धरिये जननी दुखित जान के कबहू मथुरा गवन न करिए यह क्रूर क्रूर कृत रच गए तुम ले है आ तिरछे भय करम कृत पहले विधिय ठाठ बनायो बार बार जननी कही मोसो माखन मांगत जोन सूरज नहले बैको आई सूरदास जी के शब्दों में यशोदा जी कहती हैं मोहन चित्त में इतना मोह स्नेह तो रखो कि मुझ माता को दुखी समझकर कभी मथुरा न जाना यह अक्रूर क्रूर निष्ठुर योजना बनाकर तुम्हें लेने आया है आज विधाता ने यह विधान कैसे बना दिया कि जो जो मेरे पूर्व कृत कर्म अनुकूल थे वही टेढ़े हो गए सूरदास जी जो बार बार मुझसे मैया मैया कहकर मक्खन मांगता था उसी को ये अक्रूर लेने आए हैं मेरे घर को ये सुना बना देंगे जसुमती ही भली बिहार सुफलक सुत यह तुम्हें बोझियत हरत हमारे बाल ए दो भैया जीवन हमारे ये दो तो भैया जीवन हमारे कहत रोहनी रोई धरणी गिरती उठती अति व्याकुल कही राखत नहीं कोई निठुर भये जब तय यह आयो हो आवत नाही सुर कहा निपपास तुम्हारो हम तुम बिन मर जाहि हम तुम बिन मर जाहि सूरदास जी कहते हैं यशोदा जी श्याम सुंदर के जाने की बात सुनकर अत्यंत व्याकुल हो गई और अक्रूर जी आपके लिए यह क्या उचित है कि जो आप हमारे बालकों को हरण कर ले जा रहे हैं ये दोनों भाई तो हमारे जीवन हैं इत्यादि कहकर रोहिणी माता भी रोने लगी वे पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं फिर अत्यंत व्याकुल होकर उठती हैं और कहती हैं कोई श्याम सुंदर को रोकता नहीं हाय जब से यह अक्रूर आया है तब से वे भी निष्ठुर हो गए हैं दोनों भाई घर भी नहीं आते अरे राजा के पास तुम्हारा क्या काम है हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे यह सुन गिरी धरणी झुकी माता यह सुन गिरी धरणी झुकी माता कहा अकुर गौरी लाई लिया जात दो भ्राता यह सुन गिरी मरनी झुकी माता बिरध समय की हरत लकुटिया पाप पुण्य डर नाही कछु नफा है तुमको या मैं सोचो थो तो मन माही नाम सुनत अक्रूर तुम्हारो दूर भय हो आई सुरनंद घर यति व्याकुल ऐसे ही रैन बिहाई यह सुन गिरी धरणी झुकी माता यह सुन गिरी धरणी झुकी माता सूर्य कहते हैं सूर्यदास जी कहते हैं यह श्याम सुंदर के जाने की बात सुनकर माता लड़खड़ा कर पृथ्वी पर गिर पड़ी और कहने लगी पता नहीं इन अक्रूर जी ने क्या जादू कर दिया जो दोनों भाइयों को वश में करके लिए जाते हैं हमारी वृद्धावस्थी की लठिया सहारा छीनने में इन्हें पाप पुण्य का भी भय नहीं है अरे अपने मन में कुछ तो सोचो कि इसमें तुमको कुछ लाभ है तुम्हारा नाम हम अक्रूर सुनती हैं पर यहाँ आकर तो तुम क्रूर हो गए हो नंदरानी ने ऐसी ही अत्यंत व्याकुल हो विलाप करते करते वह रात्रि बिता दी